व्यक्ति है वो भी इस कामना के रहस्य को नहीं समझते कहने को कहते रहे लेकिन फिर भी उसको वो कितना दुर्धर्ष है कितना भीषण है कैसे विनाशकारी है ये समझ नहीं आता वो लगता है तो स्वाभाविक बात है संसार में ऐसे सबके साथ होते ही है और ये होना नेचुरल है तो इसमें क्या खराबी है कोई खराबी नहीं ऐसे करके बस इतना लगता है तो आगे कहते हैं कि सत्य शूल तरवार कृपाणा अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना दारई परसु परिद पाषाणा लागे वृष्टि करे बहु नाना दिश रहे मान बिछाई मानव मघा मेघ जरिलाई

कही गिरे दरुआ काश कपिधा वहीं देखई तई दुखित फिर आवहीं अवगत घाट पाठ गिरी कंदर माया बल कीन से सर पंजर जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सुतयंगद नल नीला कीन से विकल सकल परशीला विभीषण शरण मार कीन से जर जर तन पुनरघुपति रघुपति से जूझे लागा सर छाड़े हुई लागई नागा राम पास बस भये खरारी सुबस अनंत एक विकारी नटेव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रण प्रभु ही बतायो नाग पास देवन भय पायो गिरजा जा सुनाम जपे मुनि काट भव पास शोक बंद करे आवई व्यापक से स्वनिवास सुशियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय आई सब संतन के जय तो सत्य सूल परिवार कृपाणा ये अस्त्र है जो ऊपर से मेघनाथ फेंक रहा है नाना प्रकार शक्ति भी सूल भी तलवार है कृपाण है अस्त्र शस्त्र कुल नाना वज्र के समान आयुध अस्त्र शस्त्र जो वो वो आकाश से वहाँ से मेघनाथ छोड़ता है और दारे परस्पर पाषाणा ऊपर से परस है परिध है पत्थर है ये सब फेंक रहा लागे दृष्टि करे बहुबाना इस प्रकार के सब अस्त्र शस्त्रों के ऊपर से बौछार करता है मार भी चलाता है तमाम मार आकर के लगते हैं आकर के लोगों तो दशद से रहे बाण न बिछाई और फिर बाण को उसने इतने चलाए कि दसों दिशाओं सात तरफ पानी पार पानी पार छा दे इतने उसका और वो छिपा हुआ दिखाई नहीं देता सब अस्त्र आते हैं और सब जो इस प्रकार से सबको मारते हैं और चारों तरफ भेज जाते हैं सबके सब मानव मधा बेग छिल्लाई बाहर अब समझ लो कैसे हुआ कि बाढ़ कितने आ गए जैसे मधार से पानी बस रहा है मधा नक्षत्र कहलाता है उसमें पानी बसता दूर दूर तक पानी बसता है बड़ी बड़ी बूंदे बरसती हैं ऐसे करके ये है मधा की वर्षा की तरह से चारों तरफ उसके बाढ़ों की वर्षा हो गई <clears throat> ये वर्षा के दस नक्षत्र हैं कुल सत्ताईस नक्षत्र हैं दस नक्षत्रों में वर्षा होती है उनमें ये मघा भी एक नक्षत्र है दस में से ये पांचवा नक्षत्र है मघा अंतिम नक्षत्र जो वर्षा का है वो स्वाति है जो चातक वाला स्वाति जो जल पीने वाला जो है चातक वो अंतिम नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र में वर्षा होकर के वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है ये जितना लंका में जितना भी युद्ध चलता है पहले दिन से लेकर के बल्कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता जी की खोज करने में और हनुमान जी के निशाचरों से जब युद्ध प्रारंभ होता है वहाँ से निशाचरों का जब से विनाश होता है वहाँ से मानो वर्षा ऋतु लग जाती है और ये सब जितने वर्षा ऋतु के जितने नक्षत्र हैं वे सब के सब युद्ध के नक्षत्र हैं और इसी युद्ध में सबके सब निशाचर दस नक्षत्रों के बीच मारे जाते हैं दस नक्षत्र ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु ही थी उसमें युद्ध होता था जैसे दस नक्षत्र है ऐसे ही युद्ध है ये कहने का तात्पर्य और इनका युद्ध जो वो हो अब देखो रामचरित मानस में है जैसे कि हम आध्यात्मिक अर्थ लगा लेते हैं तो देखो इसका ये प्रतीक है इसका ये प्रतीक है तो ऐसे ही अगर कोई ज्योतिषी हो और रामचरित मानस को पढ़े तो उसको सब जगह क्या दिखाई देगा कि सब काम जितने भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कथा वर्णन की है सब ज्योतिषमय है हर बात ज्योतिषमय है हम्म? है कौन क्या नक्षत्र है कौन क्या सूर्य वंश है तो क्या है चंद्र है तो क्या है आ, फिर उसमें <clears throat> उत्तरायण तो है तो क्या है दक्षिणायन तो क्या है ये सब का सब जितना ज्योतिष होगा वो सब रास्ते मानस भर में ज्योतिष ही घूम लेगा और सब फिट बैठ जाएगी ऐसे नहीं कि कहीं उस ज्योतिष में कहीं ये दिखाई दे कि ये गलती हो गई यहाँ पर देखो ये बात खंडित हो गई यहाँ गलत हो गई सुनी होगी सब जगह हो जाएगी इस प्रकार से आप देखो सिद्ध ग्रंथों की ये महिमा दुनिया में ऐसे ग्रंथ देखने को संसार में नहीं मिलते तमाम साहित्य है और एक से एक महान साहित्य सब संसार में है लेकिन ऐसे साहित्य हो जिनका किस प्रकार से गंभीर अर्थ लगाए जाए और कितने कितने प्रकार के लगाए जाए और सब उस अर्थ सार्थक हो जाए उसके ये सब इनके सांगो पांग उनकी सबकी व्यवस्था करना ये साधारण मानवीय शक्ति की बात नहीं है ये सब इंद्रिय शक्ति जो व्यक्ति की है बुद्धि से भी ऊपर ईश्वरीय शक्ति दिव्य शक्तियां हैं जिस व्यक्ति में आती है वही इस प्रकार की रचना कर सकता है इसलिए कहने लगे कि भाई तुलसीदास ने रामायण कैसे लिखे अरे साहब तुलसीदास ने कहा लिखी ये तो हनुमान जी ने लिखी तुलसीदास जी उसके केवल जो है उसके लेखक कहलाने मात्र के लिए है तो हनुमान जी ने लिखी के माने अब उसके माने जो है वो उसमें मानव मात्र की लिखी हुई नहीं है कोई अति मानव शक्ति उसके अंदर है जो उसको उस कथा को लिखाता है प्रकार तो ये कहते हैं कि मानव मघा मेघ छरी लाई ऐसे वृष्टि होने लगी अब मघा ऋतु ये तो मेघनाथ का जो बध होगा ये मघा नक्षत्र में ही बध होता माने इसका युद्ध मघा नक्षत्र के समान है तो ये नहीं कहते मघा नक्षत्र में होता तो नक्षत्र समय मई होगा ये नहीं है तो ये कहते हैं जैसे मघा नक्षत्र हो उसी प्रकार से जब युद्ध पूरा युद्ध चलता है तो उसको दस भागों में बांट लो तो मध्य का जो भाग है मेघनाथ जो है जब पांचवा नक्षत्र के स्थान पर मेघनाथ का युद्ध है और उस पर यहाँ मेघनाथ का बंद हो जाता है तो धर धर मार सुनिए धुनिकाना तो कहते हैं इस प्रकार से अब वो हो <clears throat> सब लोग चिल्लाते हैं मारो मारो मारो और पकड़ो पकड़ो अब जब युद्ध करने में तो चिल्लाते हैं लोग बात कभी जय जयकार बोलते हैं कभी मारो मारो पकड़े करते हैं कभी कभी बचाव बचाव कर, करते हैं जो भागने लगते हैं तो ये सब शोर होता रहता है और जो मारे कहीं को न जाना माने जो मारे कि मैंने मेघनाथ जहाँ से अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है इतने मार चला रहा है वो दिखाई दे देंगे ये सब तो गई गिरी तरु आकाश कपी था वही तो ये मानव लोग जब वो देखते हैं कि आकाश की तरफ से ये सब आ रहे हैं ऊपर से अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं पत्थर वहीं से आ रहे हैं बाण वहीं से आ रहे हैं तो लगता वहीं कोई है इसलिए ये बानर लोग जो है वो कहीं गिरी वहां पत्थर उठाते हैं करो <clears throat> पेड़ उखाड़ते हैं और लेकर के उसको मारने के लिए आकाश की तरफ छलांग लगा करके दौड़ते हैं लेकिन वहां क्या दे देख ही न दुखित फिर वही वहां वो मिलता नहीं है तो लौट करके फिर आ जाते ऐसा युद्ध हो रहा है कहते अवकट काट गिरी कंदर अब मेघनाथ युद्ध की भयंकरता देखो उसने क्या कर दिया जितने रास्ते हैं जहाँ कहीं स्थान है अब बानर लोग डर के भागते हैं और भागेंगे तो जिस रास्ते भागेंगे मेघनाथ ने पहले ही पांव से उसे पिंजर पेड़ा बना दिया उसको माने वहां पर जाए तो उसे फंस जाएंगे आगे बढ़ नहीं सकते पहाड़ों की जो गुफाएं थी उनके द्वार के ऊपर उसने इतने बाढ़ लगा दिए कि भाग करके पर्वत की गुफाओं के भीतर घुसना चाहिए बानर लोग तो वहां पाना नहीं बिठा सकते ये सब कर दिया माया बल की से सरपंजर अपने माया के बल से बाणों के पिंजरे बना लिए बस उसी के भीतर सब बानर घिर गए जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर अब कहीं उनको जाने को भागने का रास्ता नहीं मिलता तो बानर लोग उधर से मार खा रहे हैं मेघनाथ की और इधर कहीं उनको रास्ता नहीं मिलता तो ये सबके सब बड़े व्याकुल है सबके सब और सुरपति बंद पर जनुमंदर अब उदाहरण के लिए बताते हैं जैसे कि इंद्र ने इनके पर्वतों के पंखे काट दिए तो सब पर्वत जो है इंद्र की शरण में आ गए और पर्वतों को भागने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो इंद्र ने अपने वज्र से इन सब पर्वतों के पंखे काट दिए तो जैसे वो उनके शक्तिहीन हो गए और वहीं पड़े रह गए इसी प्रकार ये सब बानर जितने हैं भालू जितने हैं ये सब के सब मेघनाथ ने इनको सबको अपने पार मार मार करके सबको अपने बस में कर लिया सबको घेर लिया और ये सब व्याकुल है अब देखो बानरों की तो ये बात साधारण बानरों की तो ये बात हुई सब गिर गए इस प्रकार से लेकिन अब मेघनाथ उसके बाद जो और और बलवान इधर की तरफ बानर भालू है उनके ऊपर आक्रमण करता है मारुत सुत अंगद नल नीला मान हनुमान के ऊपर अंगद के ऊपर नल नील के ऊपर इन्हें से विकल सकर शीला इन सबके ऊपर आक्रमण किया सबके ऊपर प्रहार किया और इतना मार मेरे को मारे ये सब विकल्प हो गए और शक्तिहीन हो गए माने बेहोश हो करके गिर पड़े उन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण अब इसके बाद और बड़े जो थे ये लक्ष्मण थे सुग्रीव थे विभीषण थे ये राजा की कोट में आ गए सुग्रीव राजा है विभीषण भी राजा समझ लो और लक्ष्मण जी है भगवान के तो। साथ में तो अब ये सब सबसे जो अंतिम जो योद्धा थे सबसे श्रेष्ठ उनके ऊपर आए तो स्वर्ण मार की जर्जर तन तो उनको बाढ़ मार मार करके सबके शरीर जर्जर कर दिए पुनः रघुपति जूझे लागा अभी सब बानरों की और सबकी दशा ये हो गई तो अब इनमें युद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं रह गई अब सीधे भगवान राम से होने लगा अब भगवान का राम से होता तो क्या होता थोड़े रघुपति साहिब जूझने लगा जूझने लगा मैंने भयंकर युद्ध करने लगा भगवान राम और सर छाड़े भी लाग ही लागा और वो बांस छोड़ता है तो आकर के सत होकर के लगते हैं यानी आस पास बाण इस प्रकार कहते हैं जो बाण जो है का शोभन करके चलते हैं और बांध लेते हैं तो ब्याल पास बस भय खरारी ये वहां आए मेघनाथ के भगवान राम के और सर्प बन करके उनके चार शरीर में चार तरह से लिपट गए तो ब्याल फांस बस मारे सर्प के फांस में भगवान बन गए कौन खरारी जो खरारी भगवान अब देखो दोनों बातें साथ साथ बोलते हैं चाहे समझ लो कालकृष्ण बोल रहे हो चाहे समझ लो शंकर जी बोल रहे हो एक और तो भगवान राम नागपात से बन गए और दूसरी तरफ वो बन सकते नहीं हम्म? कहते हैं कि सबस अनंत एक अधिकारी भगवान तो सबस है स्वतंत्र है माने वो किसी के बंधन में है ही नहीं जो किसी के बंधन में नहीं है वो बंध है भगवान अनंत है अनंत में जिसकी कोई सीमा हो तो जो अनंत है वो बंद कैसे सकता उसको तो बांधने के लिए उसके बड़ी कोई चीज चाहिए अनंत से भी बड़ी कोई अनंत चाहिए तब वो बांधे तब वो अनंत होने के कारण बन तो सकते नहीं है और फिर भगवान एक है इसलिए भी नहीं बन सकते बांधने के लिए एक व्यक्ति हो और उससे भिन्न कोई रस्सी रस्सी कोई दूसरी चीज है जो उसको बांधे जब तक द्वैत ना होगा तब तक बनेगा नहीं बताओ अगर एक ही चीज अद्वैत हो तो कैसे बने कौन कैसे बने संभव ही नहीं जब द्वैत हो तब बने हम्म, एक बांधने वाला हो ये बांधने वाली रस्सी अस्सी हो और ये बंधने वाला हो तो सारा बंधन जो है द्वैत का है अद्वैत में ही नहीं अब इसमें इस अर्थ को देखो तो वैसे तो इनकी गरुड़ की जो शंका है उसका निर्मूलन हो रहा है उसी को दूर कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ वेदांत का भी शिक्षा भी है उसका तात्पर्य को देखो विचार करो ध्यान दो तो पता लगेगा कि भगवान बन गए भगवान ने मानवीय लीला की और द्वैत प्रकट किया एक बगेश्वर भगवान राम है किसी का ब्राह्मण है या मेघनाथ है अब द्वैत होगा तो द्वैत होगा तो बंधन हो सकता है चाहे भगवान ही द्वैत में आ जाए तो भी बंधन में पड़ सकते हैं लेकिन अगर अद्वैत होगा तो कोई बंधन नहीं हो सकता जो भी अगर परमात्मा भाव को प्राप्त करके अद्वैत में पहुंच जाए आपको बंधन उसके लिए पॉसिबल नहीं तर्क संगत भी नहीं और प्रैक्टिकली भी संभव नहीं बस इसी प्रकार की कहते हैं जल पात बस भय खरारी सबस अनंत एक अविकारी अब भगवान अधिकारी निर्विकार भगवान निर्विकार अब जैसे कि कभी कभी कोई बंधन ऐसे भी होते हैं जो विकारात्मक होते हैं जैसे वैसे तो कोई किसी को रस्सी लेकर के शरीर में बांध दे तो रस्सी से बन गया लेकिन अगर किसी के शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए है? हाँ? तो रोग पैदा हो जाए तो व्यक्ति कहेगा हम इस जात में कहा बढ़ रहे ये रोग लग गया हमारे तो वो रोग भी एक प्रकार का बंधन करके लग सकता है लेकिन परमात्मा यदि निर्विकार है तो इस प्रकार का भी बंधन उसे नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं नट योग का पट चरित्र कर नाना भगवान जो ये सब करते हैं यहाँ पर बंधन में फिर भी पढ़ते हैं तो नट योग कपट चरित्र कर नाना अब बताओ अब तुलसीदास जो है कहाँ तक कहे बात को तो देखो नट एवं नट के माने जैसे कि कोई एक्टर हो नट के माने एक्टर संस्कृत का नट शब्द जो है वो केवल वो नहीं कि जो वो उसके ऊपर डोरी के ऊपर रस्सी के ऊपर ऐसे चला जाए और नट दिखावे इस प्रकार को उसको नट नहीं कहते नट के माने एक्टर जैसे आजकल अंग्रेजी में बोलेंगे कि जो है वो हो ये लोग जो फिल्म बनाते हैं उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं तो ये नट नटी है ये जो अपना नाट्य साहित्य है नाटक जो कहलाते हैं उनमें फिर नट होते हैं नटी होते हैं और फिर वो नाटक करते हैं तो नाटक जो है वो लीला है जो एक्टर वैसा होता नहीं है एक्टर के दिखाता है तो एक्टर में क्या बात है एक्टर अपने आप में जो कुछ सो है और जब एक्टिंग करता है तो कोई रूप धारण करता है जो रूप धारण करता है वो क्या होता है वो तो एक कपट वेश होता है बनावटी रूप उसका होता है असली रूप उस एक्टर का क्या है जब वो अपना सम्माना उतार उतार के मेकअप उतार के धर दे और वो अपने बंगले में अपने घर पे अपने मिले तब दिखाई देगा असली रूप उसका वो ऐसे भगवान का असली रूप तो निर्गुण निराकार एक अनंत अधिकारी सदा स्वतंत्र अनंत ये उसका असली रूप है ये और वो अपने जो वो एक्टिंग करने के लिए उसने चाहे मनुष्य का रूप धारण कर ले और चाहे नरसिंह का रूप धारण कर ले चाहे कछुए का रूप धारण कर ले चाहे मछली का रूप धारण कर ले कोई रूप धारण कर ले वो तो सब उसके कपट वेश एक्टर की तरह से बनाए हुए हैं तो कहते हैं नट तो योग कपट चरित्र करना अब जो कपट वेश बनाया हुआ तो नाना प्रकार के चरित्र लीलाएं उसके हैं सदा स्वतंत्र एक भगवान वो सबस के लिए थे एक बार करते वो तो भगवान है और सदा स्वतंत्र है एक है वो बंधन में कभी हो ही नहीं सकते जब ये सोचो कि भगवान राम परम परमात्मा है तो उनको इन गुणों से इन लक्षणों से जो सबस है अनंत है एक है अधिकारी है स्वतंत्र है भगवान है इस प्रकार से भाव जाकर जब लीला करते हैं तो है वही भगवान लेकिन मानवीय लीला कर रहे हैं इसलिए मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे हैं एक्टिंग करके दिखा रहे हैं तो मानवता उनको धारण की हुई है और ये भी इसलिए अगर ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाए और भगवान की कथा को इसी ध्यान से व्यक्ति समझता रहे सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे तो विचार करते करते उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर भी भगवत्ता जागृत हो जाएगी परमात्मा भाव उसके अंदर भी जागृत हो जाएगा और वो भी समझ लेगा कि हम भी परमात्मा ही और ये शरीर क्या है प्राण मन बुद्धि इत्यादि क्या है इनके द्वारा व्यवहार लीला क्या चल रही है ये तो सब हमारी नकली लीला है न हम जीव है और न हम शरीर है न हम स्त्री है न हम पुरुष है ये तो शरीर जो कुछ हमारा धारण किया हुआ है जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं ये सब हमारी कपट लीला मात्र है दिखावटी ऊपरी ऊपरी है हम ये सब होते हुए भी न हम कुछ करते हैं और न कुछ हम भोगते हैं हम जो है अपने आप में अनंत होकर के स्वतंत्र होकर के विद्यमान है अब ये गुरु क्या हो गया जीवन मुक्त जीवन मुक्त किसे कहते हैं जो व्यक्ति इस अवस्था में हो सदा ही अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहे और व्यवहार काल में एक मानवीय लीला जैसे होती है वैसे अपने करती कर दी बस तो वो जीवन मुक्त है ये दोनों भाव उसको ध्यान में रहने चाहिए अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है अपने स्वरूप को भूल गया और शरीर के द्वारा जो लीला कर रहा है बस उसी को उसने सत्य मान लिया अपनी लीला को अपने नाटक को सत्य मान लिया जैसे कोई एक्टर हो तो कदाचित उसको जो है वो एक भिखारी का एक्टिंग करनी पड़े हाँ? और वो उसके दिमाग में ऐसा पागल पर चढ़ जाए एक्टिंग करते करते तू अपने आप को भिखारी ही मान ले और जब उससे कहा जाए कि भाई तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई अब तुम्हारी कार खड़ी है तो, तो चलो घर तय कहाँ जाए हमारा घर कहाँ है हम तो भूखों मरने वाले आदमी क्यों हमारे साथ मजाक करते हो हम्म? ये क्या होगा माने वो अपने असली धन संपत्ति घर को भूल गया अब भिखारी मात्र रह गया जीव की दशा में कैसे हो गई भूल गया आपने तो ये कथा का काम क्या है भगवान कि यही जीव को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप की याद दिलावे हुँ? हम्म? भगवान इसे के लिए लीला कर रहे हैं इस प्रकार तो उसे याद आ जाए कि जीव का अपना वास्तविक स्वरूप क्या है और वो कैसे लीला कर रहा है और जब व्यक्ति आप कहो कि लीला कर रहा है तो अगर कोई व्यक्ति दुराचार भ्रष्टाचार में पड़ा है और वो भी कहे मैं परमात्मा स्वरूप में लीला कर रहा हूँ तो ये उसकी दुर्बुद्धि है <clears throat> ये उसकी लीला वीला कुछ नहीं है ये है भ्रांति दर भ्रांति है एक भ्रांति होती है और एक भ्रांति में फिर एक और भ्रांति हो जाए एक तो वैसे ही व्यक्ति ने देखा कि रस्ते की जगह सर्व समझ लिया तो सर्प की भांति तो हो ही गई और फिर उसने जहां उधर की तरफ से निकला रस्सी की तरफ से तो उसने पैर छू गया जरा सा रस्ते में तो उसने समझ लिया कि मेरे पैर में सांप ने काट लिया अब वो जो भ्रांति वाला सर्प था उसने शरीर में काट लिया तो एक दूसरी भ्रांति पैदा हो गई क्या पैदा हो गई कि बस अब वो विष चढ़ रहा है मेरे पैर में पैर फटा जा रहा है, है? अब बस मैं अपना मरने वाला ये दूसरी भ्रांति जैसे कभी कभी एक भ्रांति के बाद भ्रांति दर भ्रांति होती तो जीव के साथ में इसी प्रकार से जब वो एक तो भ्रांति वैसे ही थी कि व्यक्ति जीव अपने आप को भूल करके शरीर समझ बैठा था और शरीर भाव में रह करके शुभाशुभ करना में प्रवृत्त था तो भी कभी कभी उसे लगता रहता था कि गलत गलत हम काम कर रहे हैं इसका दुष्परिणाम होगा हो सकता है हमें करना नहीं चाहिए लेकिन हमारी प्रवृत्ति मानती नहीं है फिर भी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं ये बात लगती है तो चलो भ्रांति में है लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए हम तो परमात्मा स्वरूप है और जो हम दुराचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये कुछ नहीं है तो हमारी लीला मात्र नाटक मात्र है तो ये दूसरी भ्रांति पैदा हो रही है ये ज्ञान नहीं है भ्रांति अब इसका इलाज नहीं अब शास्त्र कहते हैं कि ये ऐसी भ्रांति है कि इसका इलाज नहीं अब अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो तो उसको दवा दी जा सकती है इंजेक्शन दिए जा सकते हैं झाड़ने वाला झाड़ भी सकता है और सांप का भी सुतार भी सकता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने यह समझा कि रस्सी के सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया और ऑफिस चल रहा है तो फिर दवा से वो ठीक होगा उसकी कोई दवा नहीं कोई उसको झाड़ना चाहे तो झाड़ करके भी ठीक नहीं हो सकता लाइना जो है ये इन सबको शास्त्र का प्रयोजन क्या है और वह सही दिशा क्या है उसको सबको ध्यान में रखना चाहिए भटकना नहीं चाहिए इसलिए कहते नट एव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना ऐसे भगवान और रण शोभा लग प्रभु बधायो कहते रण की शोभा के लिए युद्ध की शोभा के लिए प्रभु बधायो भगवान ने कि भाई अब अगर ये हम जीतते ही रहे बराबर तो फिर युद्ध क्या है उस युद्ध की शोभा क्या है युद्ध की शोभा ये कभी ये जीते कभी वो जीते कभी ये हारे कभी वो हारे कभी इधर के मरे कभी उधर के मरे तब तो दो हो तब तो बराबर के वो युद्ध तो तो युद्ध है नहीं तो युद्ध क्या है इसलिए युद्ध की युद्ध भी सुंदर और सार्थक दिखाई दे नकली युद्ध न दिखाई दे बनावटी न लगे इसलिए भगवान ने अपने आप को युद्ध की लीला पूरी करने के लिए बनवा दिया <clears throat> अब यही ये ये भी प्रश्न का उत्तर है जो ऊपर कहा कि भगवान जो स्वतंत्र हैं अनंत हैं उनको कोई बांध नहीं सकता ठीक कैसे बन गए ये कहते बंद नहीं गए मेघनाथ ने इनको बांध नहीं लिया उसकी सामर्थ्य क्या इनको बांध ले इन्होंने तो बंधन स्वीकार कर अपनी लोग क्यों स्वीकार कर लिया जिससे कि ये युद्ध की जो शोभा हो ये दिखाई दे कि युद्ध जो हो रहा है वो बानर मनुष्य और निशाचर इन्हीं के बीच में हो रहा है उसमें ईश्वरता भगवान की न दिखाई दे तो रण शोभा लग प्रभु बधायो नाग पास देवन भय पायो लेकिन जब नागपासन भगवान बने तो देवताओं को भय लगा भय के देवता लोग डर गए क्या है अब क्या होगा अब भगवान तो खास बने पड़े अब तो अब युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा कैसे रावण मरेगा अब तो बिल्कुल जो है ये मरे निराश होने इनकी तरफ से जो है बानरों के भगवान राम की पक्ष थी विजय की तरफ से निराश होकर के दुखी होने लगे तो गिरजा जास नाम जपी मुन का कहीं भव पास अब ये शंकर जी की बात है शंकर जी जो है ऐसा उपदेश की बात आती है शंकर जी बोलते हैं शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो जिन भगवान का नाम संसार बंधन से छुटकारा कर देता है सो के बंद कर आवई वो परमात्मा भला कहीं ऐसे नास्था से अगर कर सकता है व्यापक विश्व निवास वो परमात्मा तो व्यापक है मैंने अनंत है विश्व निवास में सारे विश्व में व्याप्त है हाँ? विश्व निवास के दो एक तो समस्त विश्व में परमात्मा व्याप्त है और दूसरी बात विश्व कहाँ है विश्व का पास कहाँ है परमात्मा आप यह समझो विश्व को अपने आप परमात्मा उसमें गया हाँ? परमी अपने आप विद्वान है विश्व को उसमें विद्यमान होना पड़ा उसी में टिका हुआ उसी में स्थित है विश्व को आश्रय चाहिए परमात्मा को जात होने के लिए आश्रय की आवश्यकता नहीं ऐसा आनंद जो परमात्मा के सारा विश्व ही जिसमें स्थित हो हाँ? वो परमात्मा बंधन में कहा आ सकता है उसका तो नाम ही इतना महान है कि नाम ले लेकर के व्यक्ति ये नागफास जैसे बंधन बंधन तो बंधन ही क्या है रस्सी बस्ती के तो बंधन बंधन ही क्या है व्यक्ति जब वो संसार सागर से पार हो जाता है भवबंधन से छूट जाता है सबसे बड़ा बंधन जो है भवबंधन भवबंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं चाहे जेल खाटने में व्यक्ति को आजीवन डाल दिया जाए तो भी उतना बड़ा बंधन नहीं जितना कि बंधन भवबंधन क्योंकि जेल का बंधन तो आखिरकार दस साल बीस साल के बाद खत्म ही होगा निकाल दिया जाएगा जेल से बाद में तो खत्म हो गई तुम्हारी <clears throat> जेल की सजा तुम्हारी और छूट ही जाएगा उसमें और न होगा तो आखिरकार जेल में मर जाएगा तो मर जाएगा तो खत्म हो जाएगी जेल लेकिन ये भवबंधन जो ऐसा है कि शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर भवबंधन फिर बना है पिछले जन्मों से चढ़ा ही आ रहा है भवबंधन इस जीवन में जीवन भर भवबंधन में पड़े ही रहे तो शरीर छोड़ करके जाएंगे तो अगले शरीर में फिर भवबंधन बना बनाया वही मेरा तेरा राजदेश देश वही जल्पना कल्पना वही नाना प्रकार के सुख भरी चिंताएं नाना प्रकार की समस्याएं समस्याओं से छूटने का आजीवन उपाय और निरंतर चिंतित तो भयभीत तो दुखी होना यही संसार चलता रहता है और ऐसा संसार का बंधन भवबंधन बंधन छूट जाए तो समझो कि बहुत बड़ी काम हो जाए और ऐसा इसको ऐसे भवबंधन को भी देने वाले भगवान का नाम है ये महिमा है सब तो ये महिमा भगवान की देखो जहाँ प्रसंग आता है वही उसी प्रकार जब कही जाती है समझी जाती है तब ठीक ठीक समझ में आती है इस प्रकार से हो गया बस अब इसके बाद यह करिए भगवान को अब इसी प्रकार से रहने दो कल देखो बंधन छूट जाए बंधन की लीला है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियश्च रघुपुं निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु संच श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम व्हुर।